थे गंगोत्री में बड़े अच्छे आसपास के गांव वाले उनको भगवान मानते थे बहुत लोग जाते थे कभी दर्शन को अमावस्या पूनम जो भी तिथियां होती होगी तो एक दिन उन संत महात्मा को रिझा दिया हमारे गांव चलो बाबा आए गांव चलने के लिए तो भीड़ हो गई भीड़ हो गई तो प्रणाम करने वालों में खड़ा ऊपर बाबा तो खड़ाऊ पहनते थे खड़ाऊ पर किसी का जूते का पैर आ गया तो नीचे लक्कड़ और ऊपर जूता तो तो बाबा क्रुद्ध में हुए फिर संभल गए बोले अभी मैं गांव में नहीं आऊँगा अभी मैंने क्रोध को नहीं जीता है तो एक बुजुर्ग ने कहा बाबा एकांत में क्रोध नहीं जीता जाएगा जहाँ क्रोध हो, होने का वातावरण है वहीं निर्क्रोध होना है जहाँ द्वेष का माहौल है वहीं रोज सुबह आज मैं निर्द्वेष रहित होऊंगा राग रहित होऊंगा अपना संकल्प से काटना पड़ेगा जगह बदलने से व्यक्ति बदलने से विकार नहीं बदलेंगे जहाँ विकार होते हो इसलिए भीख मांगते ना कि जाए अपमान करें द्वेष ना हो गुस्सा ना आए हमने भी भीख मांगी हम भी भीख मांगने जाते थे भोजन की मेरे मन में आया कि हम अपना घर का खाते तो ये भी एक अहम है मैं क्या चलो अब घर का क्या खाते पुराने संस्कार हैं पहले तो बहुत पुराने संस्कार हैं द्वेष है ईगो है अपना अपना ठाना हुआ करना इसीलिए नाथ संप्रदाय में नंगा कर देते थे लंगोट पहरा देते जाओ भिक्षा करके आओ राजा भरतरी को बोले जाओ लक्कड़ करके आओ एकदम बड़े ऑपरेशन है ये अमलानंद मौज मार रहे हैं मुफ्त में मुफत में मौज मार रहे हैं अमलानंद ऐसे ही होता रहेगा संपर्क में रहें और रोज सुबह संकल्प करो कि आज उद्वेग नहीं आने देंगे उद्वेग आएगा तो मन को आएगा उसको देखूंगा तो उसका पावर हट जाएगा जब भी द्वेष आए राग आए क्रोध आए लोभ आए तो ये मन में लोफर आए लोफर में उसके साथी आए मन तो लोफर है उसके साथी आए काम क्रोध लोभ मोह ईश्वर से दूर करके संसार में फंसाता है ये लोग पर और उसके साथी आए लेकिन मेरा साथी तो गुरु जी है और भगवान है अब मैं गुरु को बुलाऊंगा भगवान को बुलाऊंगी आए आए ओम ओम ओम महाराज जी आए अपने आप लोग पर भागेंगे ये तरीका करो इससे आराम हो जाएगा बहुत बढ़िया